शिल प्रभुपात पूरे दुनिया में कृष्ण भक्ति प्रचार किया कैसे व्यवहारिक रूप में शिल प्रभुपात कैसे प्रचार किया क्या क्या किया थे शिल प्रभुपाद जो क्या बोलते हैं केवल गोलोक ध्यान नहीं किए थे तो कैसे श्री चैतन्य मनोभीषम स्थापितम ये न भूतले कैसे चैतन्य महाप्रभु का मनोभीष्ट चैतन्य महाप्रभु का आंतरिक इच्छा स्थापित होगी इस पृथ्वी में शिल प्रभुपाद का ध्यान था वे व्यवहारिक आचार्य थे सबको और सबकी स्थिति विचार कर करके उसके अनुसार प्रचार किया था तो लोग जो आध्यात्मिक ज्ञान का कुछ भी नहीं थे तो ऐसे लोगों को कृष्ण की दिव्या लीला का वर्णन नहीं किया प्रोपाद शिल प्रोपाद का प्रचार दो मुख्य विषय पर स्थापित था शुद्ध प्रोपाद विशेषकर दो मुख्य विषय के अनुसार प्रचार किए थे पहले है कि शरीर और व्यक्ति भिन्न है हम शरीर नहीं है और दूसरा है कि हम नियंत्रित है हम स्वाधीन नहीं है ये दो विषय भगवत गीता के अनुसार और न्याय और तर्क के अनुसार शिल प्रभुपाद पूरे दुनिया में प्रचार किया कि भौतिक जीवन दुग्मय है और कि आधुनिक तथाकथित सभ्यता असभ्य है वो पूरा मूर्खता है इस प्रकार शिल प्रचार किए थे क्योंकि आज के लोग विमोहित होते हैं कि आज की सभ्यता कितने महान है शिल प्रभट बोले कि मेरे पहले से बहुत गुरु स्वामी योगी इत्यादि और भारत से आया और योग्यांग के अधिक बहुत भोगी गए थे भोग विलास का हेतु से भारत को छोड़ के अमेरिका गए थे और प्रभात बोले कि वो सब जो भारत से आया है तो सर्वप्रथम बोले कि वो इस देश इतना उन्नत है इतना उच्न है और शिल प्रभुपत बोले कि मैं सर्वप्रथम बोले कि ये सब बकवास है सब इसका कुछ अर्थ नहीं है सब उन्नति जो है तो नरक जाने के और के लिए उन्नति है फिर भी शिल प्रोपाद व्यवहारिक थे कैसे इस असभ्य सभ्यता में संस्थापन स्थापन करना पुस्तक लिखना प्रकाश प्रकाशन करना वितरण करना पैसे कैसे संग्रह करना और कैसे व्यय करना तो पैसा संग्रह करने से और कठिन है अच्छी तरह खर्चा करना तो प्रभुपाद व्यवहारिक थे और उनके अनेक व्यवहारिक सिद्धि थी अगर सिद्धि बोलना है साधु के बारे में तो ऐसे योग सिद्धि जैसे मान जाते हैं तो उनकी प्राप्ति प्राप्ति भी बोल सकते लेकिन वास्तव प्राप्ति है कृष्ण प्राप्ति कृष्ण प्राप्ति हो जहा होते तो लगते ही तो वो प्राप्ति और सिद्धि वो दो शब्द थी संस्कृत में और वो बाद में अंग्रेजी भाषा भारत में प्रचलित हुई और इसलिए वो अचीवमेंट शब्द का अनुवाद करने के लिए सिद्धि या प्राप्ति शब्द डाला लेकिन उसका मूल अर्थ नहीं है और एक्चुअली अचीवमेंट के लिए संस्कृत में वो एकदम बराबर ऐसे शब्द नहीं है क्योंकि प्राप्ति है कृष्ण प्राप्ति उसके अलावा और, सब कुछ जो हम प्राप्त कर सकते हैं सब निरार्थ है तो शिल प्रभा ने बहुत कुछ किया है कृष्ण भक्ति दुनिया में कृष्ण भक्ति स्थापन करने के लिए उन्होंने कृष्ण भक्ति प्रचार किए थे और जिस जिससे वो प्रचार संगठित रूप से उन्नत हो सकते हैं इसलिए शिल प्रभुपाद इसकॉन इस international society for Krishna consciousness ने स्थापन किया उस समय शिल प्रभुपाद एक छोटा सा बहुत छोटा नहीं एक्चुअली भारत के लिए बहुत छोटा नहीं <laughs> लेकिन अमेरिका के लिए एक बहुत छोटा सा दुकान में स्टॉफ रूम में Srila Prabhupada, ISKCON ko sthapan kiya. Kon gaya hai waha, New York? Koi hai, Amari Beach? Aap gaya hai, ne? No. Ne? Never went to America? I went to Berkeley. Hmm? Berkeley. Okay, that's... New York se dur hai. Bahut dur. Sat, sat kilometer, I say. Five thousand miles. अमेरिका एक विशाल देश है न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को ऐसे सात सौ सात हजार किलोमीटर है It's about five hours flight, I think, something like that. तो एक छोटा सा दुकान में शिल प्रभुपाद इसको को स्थापन किया और समय उनके कितना दस बारह शिष्य नहीं हो इतना सब भी नहीं हो कोई दीक्षित भक्त है और दीक्षा प्राप्त होने वाले भी वे उस समय तो वास्तव शिष्य नहीं थे तो शिष्य था क्या है दीक्षा क्या है उसके बारे में ज्ञान बहुत कम था तो फिर भी Srila Prabhupada international society for Krishna consciousness international तो कैसे इंटरनेशनल तो ये शिल प्रभात का प्रचार एक छोटा सा इलाका न्यूयॉर्क सिटी में था और एक छोटे सा दुकान से प्रचार हुआ था वो खाली वो लोअर ईस्ट साइड उसमें प्रचार प्रभुपात के शिष्यों एक छोटा सा दुकान में रहते थे और वो बाजू में पाक गया थे एक बार हफ्ते में कीर्तन करने के लिए और वो international society for Krishna consciousness था परंतु शिल प्रोपाद की भविष्य दृष्टि में उसके पहले भी और प्रोपाद एक भी शिष्य को बनाने के पहले विदेश में एक्चुअली भारत में शिल प्रोपाद ने कम से कम एक और शायद कहीं शिष्यों को बनाया भारत में पाश्चात्य गमन के पहले तो प्रभुपा जब अमेरिका में अकेले थे तो एक बार एक पार्क में एक व्यक्ति को मिलके उससे बात की वो प्रभुपात बोले कि क्योंकि उस समय प्रभुपात तो एक निर्धन निरुपाय व्यक्ति जैसे दिखता था वे सदैव लक्ष्मीपति सर्वैश्वर्य नाथ भगवान नारायण के आश्रय में थे परंतु प्रोपद एक ऐसे निर्धन निरूपाय साधु जैसे व्यक्ति वो प्रभा बोले कि मेरे पास बहुत शिष्य है बहुत मंदिर है बहुत प्रकल्प है बहुत पुस्तक है, है कहा है <laughs> मैं वो सभी से विभाजित हूं खाली काल से कुछ काल में सब प्रकट होगा तो शिल प्रभुपाद जानते थे कि ये सब होगा और इसलिए जब साधारण दृष्टि में आवश्यकता तो नहीं था तो उस समय शिल प्रभुपाद ने international society for Krishna consciousness औपचारिक रूप से रजिस्ट्रेशन किया है तो शिल प्रभात का पहला प्रचार केंद्र एक छोटा सा स्टोर फ्रंट था और उनका चुरुभाव के पहले 100 के अधिक मंदिर प्रचार केंद्र इत्यादि स्थापन किए उनके शिष्यों की सहायता के द्वारा शिल प्रभुपाद हमको बहुत अनुग्रह करके बहुत बार बोले कि मेरे शिष्यों मुझको इतना सहायता करते हैं मेरे गुरु महाराज की आज्ञा पूर्ण करने में तो वो शिल प्रभात की कृपा है कि प्रभात वैसे वाले लेकिन वास्तव में शिल प्रभात के शिष्यों शिल प्रभात को इतना कष्ट दिए थे उनको प्रशिक्षण देना बहुत कठिन था और शास्त्र में वास्तव शिष्य का क्या क्या गुण होना चाहिए उसका वर्णन है और प्रभुपाद के शिष्यों तो ज्यादातर वो, वो सब गुण के वर्जित थे और और उनके वो सब गुण जो होना चाहिए वो सब विपरीत गुण शिल प्रभुपाद के शिष्य थे तो शिल प्रभुपाद वो क्या बोलते जो सांप को मोहित करते स्नेक चामा जैसे क्या बोलते हैं हाँ? तो ऐसे थे जो हिंसक साप जैसे थे जो शिल प्रोपात भक्त बने थे किंतु कैसे भक्ति करने है उनका ज्ञान नहीं था और और उसके अधिक तो कैसे किसी भी काम करना तो प्रभुपद के शिष्यों का ज्ञान नहीं था तो ज्यादा हिपी थे हिपी का मतलब बेकार कुछ काम नहीं करते काम करने की इच्छा नहीं है किसी के आज्ञा पालनकारी नहीं है और उनका जीवन का एक ही उद्देश्य है संभोग है और नशा दीनो हीनो जोतो चलो हरि नाम उधर लो थार साखी जगाई माधाई नहीं जगाई माधाई प्रभुपद के शिष्यों की तुलने में तो महान संत जैसे भारत में और विशेषकर नवद्वीप में जन्म ब्राह्मण जाति तो शिल प्रभात ऐसे व्यक्तियों के द्वारा शिल प्रभात प्रचार किया था तो वास्तव में शिल प्रभात के शिष्यों सब विशेष है साधारण व्यक्ति नहीं है सब साधु है परंतु साधारण दृष्टि में वे सब महान असाधु थे और शिल प्रभा की कृपा से वो सब साधु बन गए थे तो उनके द्वारा शिल प्रभा ने पूरा दुनिया में प्रचार किए थे तो उस समय तो कैसे इसकोन इतना तुरंत पूरी पृथ्वी में ही प्रसारित हो गया है तो ऐसा था कि कुछ भक्तजन अगर एक मंदिर आए थे तो तीन चार महीने के बाद एक दो तीन ज्यादा से ज्यादा चार उस मंदिर से चला गया नया मंदिर स्थापन करने के लिए उनकी भक्ति में अनुभूति तीन चार पांच महीना इतने से और प्रचार के लिए नया केंद्र स्थापन करने के लिए चला गया और ऐसे केवल अपना देश में नहीं तो जापान ऑस्ट्रेलिया जाओ ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया वो क्या है अमेरिका खास अमेरिकन लोग तो नहीं जानते भूगोल अमेरिका का महा क्या है तो मालूम नहीं है अभी टीवी से ओ इराक ऐसा नाम सुन लेकिन अमेरिका ओ अमेरिका में भूगोल है न्यूयॉर्क से हवाई वो पूरा दुनिया है ऐसे लोगों को भेजे तुम जाओ मेरे साथ जाओ इंडिया जापान जाओ मलेशिया अफ्रीका तो इस प्रकार शिल प्रभा ने एक सौ के अधिक मंदिर स्थापन किया है और वो कृष्ण भक्ति कैसे सीखा है तो उनके शिष्यों जो भारतीय नहीं थे जो साधु बिल्कुल नहीं थे तो भक्ति सादाचार पालन किया कैसे जो ज्यादातर भारतीय साधु भी पालन नहीं करते थे ज्यादा साधु कम से कम चाय कॉफी पीने वाले अगर हम किसी भी आश्रम जाते हैं जो साधु जान हमका स्वागत देते हैं चाय पियेंगे ऐसे बोलते हैं तो जो भारतीय लोग के लिए संभव नहीं था तो उस प्रकार का सादाचार शिल प्रपद उनके असभ्य पशु जैसे शिष्यों को सिखाए जिनका जीवन संभोग नशा लेने में उत्साहित उनको भक्ति सदाचार सिखाए यदि ऐसा पति व्यक्ति का जीवन पूरा सुधार किए थे वो भी अद्भुत अकल्पनीय था लेकिन ऐसे हजार हजारों का जीवन पूरा परिवर्तन करना किसकी शक्ति है ऐसा करना आज आजकल और भी लोग आते लेकिन उस समय कल्पनीय नहीं था इसलिए वो प्रभु शिल प्रभुपात जब प्रयास किए थे अमेरिका जाना तो वो सुमति मोराजी प्रभुपाद को टिकट देना नहीं चाहता नहीं और सब ब्रजवासी ओम प्रभा को और सब प्रभा के गुरु भाई सब प्रभा को मना के तो वहां पर कैसे भक्ति कैसे भक्ति प्रचार करेंगे तो भारत में भी लोग ग्रहण नहीं करते हैं तो कैसे विदेशी लोग ग्रहण करेंगे तो संभव नहीं था संभव नहीं था अभी संभावना है शिल प्रभुपाद की कृपा से अभी लोग जो आते देखते हैं कि इतना सुंदर मंदिर है और भक्तजन तो ऐसे आश्रम में रहते सभ्य व्यवस्था है सुस्वादु स्वादिष्ट प्रसाद है और ऐसे भक्तजन ऐसे रहते हैं और चार पालन करते कृष्ण भक्ति करते हैं तो सब कुछ देख सकते हैं अनुभव कर सकते हैं लेकिन उस समय कुछ नहीं था जो संभव नहीं था शिल प्रभुपाद किए थे शिल प्रभुपद के अलावा किसी की श्रद्धा नहीं थी कि अमेरिका में भक्ति प्रचार संभव होगा शिल प्रभुपद की श्रद्धा थी हरिनाम में श्रीमद भागवत में कृष्ण भक्ति में और इस प्रकार वो हरे कृष्ण मंत्र पूरा दुनिया में ही प्रसिद्ध हो गया है बारह सौ में शिल प्रोपाद अकेले अमेरिका गए थे और उनके पास केवल चालीस रुपया जो अमेरिका में नहीं चलते डॉलर चलते दो पेटी में श्रीमद् भागवत पुस्तकें थी और ऐसे कुछ कपड़ा ये सब था शिल प्रभुपाद के पास और उनकी पूरी श्रद्धा कि ये लोग तो इतने सा पथित है परंतु वे जीव है और जीव है स्वरूप है कृष्ण दास वे भी चैतन्य महाप्रभु की कृपा से कृष्ण सेवक हो सकते वे कृष्ण सेवा की है तो उनको सूचित करना चाहिए तो इस प्रकार वो हरे कृष्ण मंत्र जो भारत के बाहर पूरा आख्यात था बारह साल में और एक्चुअली उससे कम समय में पूरा दुनिया में विख्यात हो गया विशेषकर वो बीटल्स वो पॉप ग्रुप जो था जॉर्ज हैरिसन और जब वो हरे कृष्ण मंत्र एक रिकॉर्ड बनाया और बहुत थोड़ा समय में पूरा यूरोप अमेरिका ऑस्ट्रेलिया जापान ये सभी देशों में जनप्रिय हो गया है एक्चुअली मैंने सर्वप्रथम हरे कृष्ण मंत्र सुना उस रिकॉर्ड से Oh, I'll tell you another time. मेरे पति जीवन के बारे में ज्यादा नहीं कहना चाहिए इस सभ्य सभा में तो शिल प्रभुपाद ऐसे पशु रूपी व्यक्तियों से लगभग पंच हजार शिष्यों में और सबका सबके लिए वो नियम पालन करना पड़ता मंसाहा वर्जित है अवैध स्त्री संग अथवा पुरुष संग वर्जित है सभी प्रकार का नशा वर्जित है और जो आदि खेलना वर्जित है सुबह सुबह उठना है ब्रह्म मुहूर्त में मंगल आरती जाना हर रोज श्रीमद भागवत पाठ करना कीर्तन करना तो लगभग पांच हजार लोग ज्यादातर जो भारतीय नहीं थे इस भक्ति सदाचार पालन करने के लिए संकल्प किए थे और शिल प्रभुपद की शिष्यता ग्रहण किए थे शिल प्रभुपद की शिष्य उन तो केवल हिपी नहीं थे उनमें कुछ अध्यापक भी थे भारतीय अभारतीय चाइनीज रशियन ऑस्ट्रेलियन अफ्रीकन तो पूरा दुनिया से सब प्रकार के लोग भक्ति ग्रहण किए थे श्रील प्रभात के शिष्यों में कुछ मुस्लिम भी थे मेरे एक गुरु भाई लंदन में था सर्व सर्व सर्व सर्वसागर वो टर्की का मुस्लिम था और ऐसे और कुछ भी मुस्लिम थे शिल प्रोपाद कुछ दिन के लिए राशा गए थे वह समय आयन कर्टन था क्या बोलते लोहिक पर्दा और, और राशा में प्रचार करना संभव नहीं था बहुत सख्त कम्युनिस्ट Rajata था तो उस अवस्था में शिल प्रभुपाद एक उत्साही रशियन युवक को प्रचार करने से बीज लगाया जिससे आजकल हजार हजार रशियन भक्त है जो संभव नहीं था अमेरिका में प्रचार करना कठिन था परंतु सरकार से कुछ ऐसे मना नहीं अमेरिका का एक गुण है प्रभुपद बाबा की धर्म प्रचार वर्जित नहीं निषेध नहीं है लेकिन राष्ट्र में निषेध था और धर्म प्रचार करना केवल कठिन नहीं था तो बहुत डेंजरस भी था संपूर्ण निषेध था तो फिर भी उसी अवस्था में भी शिल प्रभुपाद तो एक व्यक्ति को भक्ति प्रदान करने से एक बीज लगाया जिससे वो कम्युनिस्ट का समय में भी कृष्ण भक्ति पूरा यूएसएसआर में प्रसारित हो गए है ये साधारण व्यक्ति का काम नहीं है शिल प्रभात बहुत उत्साहित है कम्युनिस्ट देशों में प्रचार करने के लिए तो शिल प्रभात स्वयं उनकी पुस्तकें अनुवाद किए थे कैसे वो अमेरिका के लिए प्रस्थान करने के पहले शिल प्रोपाद श्रीमद भागवत का तीन खंड प्रकाशन किया और उसके अलावा एक छोटी सी पुस्तिका अन्य लोगों को सुगम यात्रा easy journey to other plan और Srila Prabhupada अमेरिका में वो प्रचार किए थे और पूरे दुनिया में प्रचार किए थे तो दिन का समय बहुत व्यस्त रहते थे प्रचार करने में प्रवचन देने में भक्तों को व्यक्तिगत उपदेश देने में भ्रमण करने में और रात का समय शिल प्रभुपाद श्रीमद भागवत आदि पुस्तक का अनुवाद किए थे और इस प्रकार उनका प्राकट्य में प्राकट्य समय में आशी के अधिक पुस्तक रचना की तो यदि प्रभुपाद तो केवल इतनी सी पुस्तक रचना की तो वो भी अद्भुत था लेकिन कैसे है वो उनका प्रचार का भ्रमण करने में और इसकोन में तो पूर्व संस में तो कितना कठिनाई था कितना समस्याओं थी तो ये सब के बीच में शिल प्रभा पूरा जुड़े हुए इसकोन की सभी समस्याओं में और कैसे गलत स्थिति को सुधार करना तो प्रभुपाद पूरा इन्वॉल्व थे तो फिर भी रात को वे ध्यान निमग्न थे श्रीमद भागवत का अनुवाद करने में और उनके शिष्यों के द्वारा उनकी पुस्तक है अलग अलग भाषाओं में अनुवादित हो गए अभी अस्सी के अधिक भाषाओं में अनुवादित हो गया शिल प्रभुपाद इस सेवक को विशेष महत्व दिए थे कि प्रचार के लिए ही पुस्तक होना चाहिए प्रभुपद बोले कि प्रचार का अनुष्ठान कितना सफल हो हम माप कर सकते पुस्तक वितरण से तो अगर हजार हजार लोग आते और जाय हो जाय हो बोलते और खाली हाथ घर वापस जाते तो ज्यादा फायदा नहीं हुआ अगर पुस्तक लेते हैं वो ही छिन्न है कि वे खाली मौखिक रूप से ग्रहण किया नहीं वे कृष्ण भक्ति तत्व ज्ञान के बारे में जिज्ञासु है और इसलिए उन्होंने प्रभा की दिव्य पुस्तकें ली तो <coughs> इसलिए उनके पुस्तक है उनका शिल प्रपात का प्रचार का आधार है और उनके शिष्यों इस पुस्तक सभी प्रकार की सेवा में लगाया और विशेषकर पुस्तक वितरण में तो शिल प्रभात उनके शिष्यों को बताया कि दिव्य पुस्तक वितरण करने वो ठीक है ऐसे करने ऐसे करो ठीक नहीं है तो अति उत्तम है परंतु साथ साथ वो पुस्तक में वो ज्ञान जो है तो तुम लो प्रभात के शिष्यों को स्वयं करना चाहिए हम पुस्तक देते हैं ज्ञान प्रदान करने के लिए परंतु यदि हम केवल वितरण करते और हम स्वयं अज्ञानी है नहीं जानते पुस्तक में क्या है तो हमारा क्या हालात है तो प्रभुपात बोले कि एक बार बोले कि मेरे पुस्तक विशेष का मेरे शिष्यों के लिए है शिल प्रभुपाद की एक विशेष इच्छा थी वानाश्रम धर्म स्थापन करने के क्योंकि समाज में कुछ दिव्य नेतृत्व नहीं कलो शूद्र संभव कल युग में सब शूद्र जैसे हैं शिल प्रभुपाद का विशेष प्रयास था उनके शिष्यों को ब्राह्मण बनाना और ऐसे वास्तव ब्राह्मणों की नेतृत्व से चतुर्वर्ण वर्णाश्रम धर्म स्थापन करना है शिल प्रभात की एक इच्छा थी क्योंकि जब तक समाज में आध्यात्मिक नेतृत्व नहीं होते तो तब तक पूरा समाज में सभी प्रकार का विचलन रहेगा और शांति नहीं होगी और ज्ञान का नाम में मूर्खता का प्रचार होगा तो शिल प्रभुपात बोले कि सर्वप्रथम ब्राह्मण वर्गा को स्थापन करना है शूद्र है काफी है समाज में और एक प्रकार के वैश्य है सही क्षत्रिय नहीं है परंतु क्षत्रियों से और भी महत्वपूर्ण है ब्राह्मण उदाहरण है शास्त्र में कि ब्राह्मण तो सिर जैसे है तो शिल प्रभुपाद ने इस उदाहरण दिए थे कि एक शरीर तो जितने भी शक्तिशाली नहीं हो तो अगर उसका सिर नहीं है तो क्या है शव है मृत शरीर है ऐसे ही एक प्रकार का भूत है जिसका केवल शरीर है और सिर नहीं है तो लोगों को बहुत उपद्रव देते हैं तो इस प्रकार आजकल मानव समाज का सिर नहीं है अर्थात वास्तव ब्राह्मणों का मार्गदर्शन नहीं है क्योंकि वास्तव ब्राह्मण नहीं है तो इसलिए शिल प्रभात की इच्छा थी एक नया ब्राह्मण का वर्ग सृष्टि करना भगवत तत्व ज्ञान के अनुसार वो ब्राह्मण होंगे तो वैष्णव ब्राह्मण होना चाहिए स्मार्ट ब्राह्मण मायावादी उस प्रकार नहीं तो भगवत तत्व ज्ञान से विभूषित होने ब्राह्मणों की आवश्यकता है समाज में जिससे आम लोग समझ ले सकेंगे तो कैसे जीवन व्यतीत करना चाहिए कैसे अभ्या सिद्धि विन्दति मानवा स्वकर्म करने से चाहे भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र स्वकर्म करने से भगवान कृष्ण की सेवा करना चाहिए और इस प्रकार सब लोग तो बड़ा ज्ञानी बड़ा पंडित नहीं नहीं हो नहीं होते हुए भी तो पूरी सिद्धि भक्ति सिद्धि मिल सकती तो वानाश्रम धर्म स्थापन करना शिल प्रपद का एक महान उद्देश्य है तो इस वानाश्रम धर्म में फैक्ट्री मिल इत्यादि नहीं हो तो भूमि गैंग और भगवान की कृपा के ऊपर निर्भर करना सारा जीवन बीतना वानाश्रम धर्म स्थापित होना चाहिए सर्वप्रथम ब्राह्मण वर्ग होना चाहिए हम ब्राह्मण जाति बहुत है लेकिन जन्म के अनुसार ब्राह्मण नहीं होते आ जाए थे तो शूद्र वेद पाठित भवित विप्र हम्म। संस्कार भवित चमन जायते शूद्र संस्कार भवित द्विज वेद पाठित भवित विप्र और ब्रह्म जनातीति ब्राह्मण तो जो ब्रह्म कौन है? किम छत ब्रह्म के मध्यात्मा जो प्रवीण है ये सब विषय हम समझने में कि परम तत्व है कृष्ण भगवान और सब जीव उनके दास है वे समर्थ ब्राह्मण है सिरहीन दिशाहीन मानव समाज को यथार्थ मार्गदर्शन देने के लिए तो शिल प्रभुपाद का उद्देश्य था एक नया ब्राह्मण वर्ग की सृष्टि करना ये भगवत तत्व विज्ञान प्रदान करने से जो प्रवीण है इस ज्ञान में वे योग्य है समाज को मार्गदर्शन देने के लिए तो इस ज्ञान तो केवल पुस्तकी ज्ञान नहीं है भगवान कृष्ण अर्जुन को भगवत गीता सिखाए रणभूमि में व्यवहारिक